सब बच्चे आपके सामने तिलक का मोद पेश कर रहे थे बहुत ही अच्छा बजाया इन्होंने सरदार गुरुदेव सिंह इनको तालीम देते हैं संगीत की सितार दुल्लवा और वायलन पर आज हम संगीत सुनेंगे साज संगीत और बड़ा मुश्किल है इतने साजों को एक साथ सुर में बजाना खसूस हिंदुस्तानी साजों को क्योंकि ये बात मानी जाती है कि हमारे जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत मीठे हैं लेकिन इनमें हारमोनी नहीं है you'd be surprise we lack harmony. That's why we have not been able to create very good orchestra of purely Indian instruments because we are all individual players. हमारे जो जिसे कहते हैं ना संगीत में श्रुतियाँ कि एक ही राग को चार लोगों से कहिए चार रागियों को बजाएं एक जैसा नहीं बजाएंगे कोई ना कोई श्रुति ऐसी लगा जाएंगे जो हारमोनी में मुश्किल पेश करती है लेकिन ये खूबी भी है हिंदुस्तानी संगीत की क्योंकि यही इसकी पहचान है तो दोस्तों ज़्यादा ना कैसे हुए दूसरी आइटम हम पेश कर रहे हैं ये दोनों होनहार बच्चे एक बहुत बड़े संगीतकार के बेटे हैं धर्मवीर सिंह के ये पुत्र हैं दोनों ये संतूर वादन करेंगे और शुरू में इन्होंने संतूर सीखा है अपने पिताजी से ही और उसके बाद हरजिंदर पाल सिंह से इन्होंने ट्रेनिंग ली है जो पंडित शिव कुमार शर्मा के बड़े सीनियर स्टूडेंट हैं आपको पता ही है कि जो धर्मवीर सिंह जी है उस्ताद विलायत खां के शागिर्द हैं तो इन नाम दोहराने का मतलब ये है कि नामधारी संगत ने बहुत इस काम में बहुत तनदही से काम किया है बड़ी मेहनत से काम किया है गुरु शिष्य की जो परंपरा चली आ रही है वो बहुत प्यारी है इसलिए कि गुरु का आमना सामना उसका रूबरू होना वो एक किस्म की ऊर्जा भी प्रदान करता है जो क्लासरूम में नहीं हो सकती तो बहरहाल राग यमन ये बच्चे आपके सामने पेश करेंगे विलंबित होगा मध्य ताल में और उसके बाद द्रुत तीन ताल में और इसी तरह ये उपनीत सिंह जो है पंडित शारदा सहाय के शागिर्द हैं ये भी बनारस घराने से इनका ताल्लुक है आइए इनसे सुनते हैं राग यमन इनका स्वागत कीजिए